हजरत अबू उमैर बिन अनस अपने चचाओं से बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने ईद का चांद देखा मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर वक्त इत्तला न मिल सकी और आम लोगों ने रोजा रख लिया फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इत्तला की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिन चढ़ाने के बाद रोजा खोलने का और अगले दिन नमाज ईद के लिए निकलने का हुक्म दिया सुनने नसाई हदीस नंबर एक हजार पांच सौ अठावन